फिर हमने आपकी तरफ वही भेजी कि आप इब्राहिम सलाम के तरीके की पैरवी करें जो बिल्कुल यकसू थे और वो मुशरकों में से नहीं थे